पाठ करेंगे मिलकर के ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु बताएंगे हाँ जी ये मंत्र का क्या इस मंत्र का अर्थ है इसमें गुरु और शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ओम सहना ववतु हम दोनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करें गुरु और शिष्य और भगवान भी हम दोनों की रक्षा करें पहली बात दूसरी बात सहनऊ भुनकतु हमारे पास जितने भी साधन हैं रोटी कपड़ा मकान सोना चांदी मोटर गाड़ी हम दोनों मिलकर उसका प्रयोग करें गुरु और शिष्य जो भी संपत्ति है दोनों मिलकर प्रयोग करें स्वार्थी नहीं बने फिर सहवीर्यम करवा वही दोनों मिलकर एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाएं विद्यार्थी गुरु जी की शक्ति को बढ़ावे कैसे बढ़ाएगा गुरु जी ने एक बार लेसन पढ़ाया विद्यार्थी ने फटाफट सीख लिया एक ही बार पढ़ाने में सीख लेगा तो गुरु जी की शक्ति बढ़ेगी और वही लेसन चार बार पढ़ाना पड़ा तो गुरु जी की शक्ति नष्ट होगी तो इस तरह से विद्यार्थी गुरु जी की शक्ति को बढ़ावे एक ही बार में फटाफट सीख ले इतना बुद्धिमान होना चाहिए और गुरु जी विद्यार्थी की बुद्धि को कैसे बढ़ाएगा उसकी शक्ति को कैसे बढ़ाएगा वो अच्छी अच्छी बात सिखाए बढ़िया शब्दों में बताए अच्छी टेक्निक से बताए एक ही बार में बहुत सी बात समझ में आ जाए तो गुरु जी ने विद्यार्थी की शक्ति को बढ़ाया ऐसे एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाए चौथी बात तेजस्वी तमस्तु जो भी हम पढ़ें वो हमारी पढ़ाई लिखाई बढ़िया होनी चाहिए तेजस्वी होनी चाहिए हमारा भी कल्याण करे दूसरों का भी उसको हम पढ़ें अच्छी तरह से दोहराएं पक्का करें अपने जीवन में उतारें आचरण में लाएं जिससे हमारा सुख बढ़े और दुख कम हो दूसरे को भी पढ़ा सकें उसका प्रचार भी कर सकें ये चौथी बात और पांचवी बात माँ विद्वेषावही आपस में हम गुरु शिष्य कभी भी द्वेष नहीं करें कभी कभी लापरवाही से द्वेष भी हो सकता है गुरु जी यूं सोचे मेरा चेला बहुत बुद्धिमान है फटाफट सीखता है तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा लोग इसकी सेवा करेंगे मुझे कोई पूछेगा ही नहीं तो ऐसा ना सोचे ऐसा द्वेष नहीं करना अच्छी बात है विद्यार्थी अच्छा है तेजस्वी है बुद्धिमान है तो आगे जाना ही चाहिए इससे विद्या का और प्रचार होगा लोगों को लाभ होगा ऐसा सोचे और विद्यार्थी भी गुरु जी से द्वेष ना करे वो यूं ना सोचे कि देखो जो भी आता है गुरु जी को नमस्ते करता है मुझे कोई पूछता ही नहीं हैं इनको खूब पैसे मिलते हैं इनको भोजन खिलाते हैं इनकी सेवा करते हैं खूब सम्मान मिलता है और मुझे कोई पूछता नहीं तो वो ऐसा ना सोचे इस तरह से द्वेष नहीं करें आपस में दोनों ये पांचवी बात थी ये था मंत्र का ठीक है चलिए कल कहां तक पाठ हो गया अभी राजस्थान हाँ तीसवां सूत्र चलेगा तो कल के प्रसंग में बताया था ईश्वर प्रणिधान करने से क्या क्या लाभ होते हैं उसमें ये बात बताई थी आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा अनुभूति होगी और अंतरायों का अभाव होगा जो योग के विनाशक हैं योग के बाधक हैं शत्रु हैं उनका अंतरायों का विनाश हो जाएगा अब अगले सूत्र की तीस की भूमिका बोलिए अथ के अंतराया अथ के अंतराया ये ये चित्त चित्त विक्षेपा विक्षेपा तो अब प्रश्न उठाते हैं कि के अंतराया अब ये बताइए अंतराय कौन कौन से हैं ये चित्त से विक्षेपा जो चित्त को विक्षिप्त करते हैं चित्त की स्थिति बिगाड़ते हैं खराब करते हैं वो अंतराय कौन कौन से हैं के पुनः पुनः ते बोली ते कियंतो वा कियंतो वा इति इति तो ते के पुनः वे कौन कौन से हैं बाधक कियंतो वा और कितने हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं बाधक ये बताएं इसका उत्तर अगले सूत्र तीस में है बोलिए व्याधि व्याधि स्त्यान स्त्यान संशय संशय प्रमाद प्रमाद आलस्य आलस्य अविरति अविरति भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा चित्त विक्षेपा ते अंतराया ते अंतराया तो ये इस सूत्र में बताए नौ बाधक हैं कुल मिलाकर एक व्याधि दूसरा स्त्याण तीसरा संशय चौथा प्रमाद पांचवा आलस्य छठा अविरति सातवां भ्रांति दर्शन आठवां अलब्ध भूमि तत्व नौवां अनवस्थितत्व इस प्रकार से ये चित्त के विक्षेप हैं चित्त की स्थिति को बिगाड़ने वाले हैं ते अंतराया इन्हीं को अंतराय कहते हैं बाधक कहते हैं तो ये वादक सारे हट जाएंगे इनकी व्याख्या भाष्य में पढ़ेंगे बोलिए नव अंतराया नव अंतराया चित्त विक्षेपा चित्त विक्षेपा सह एते सह एते चित्तवृत्तिभिर चित्तवृत्तिभिर भवंती भवंती तो नव अंतराया ये नौ अंतराय है चित्त से विक्षेपा चित्त के बाधक है चित्त की स्थिति को बिगाड़ते हैं मन की स्थिति खराब करते हैं चित्त वृत्ति भी सह एते भवंती जब चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो उनके साथ साथ ये भी उत्पन्न हो जाते हैं चित्त वृत्तियां चित्त की स्थिति को बिगाड़ती हैं ये बाधक भी पैदा हो जाते हैं वो भी खराब करते हैं इस तरह से ये नौ बाधक है शाम अभावे शाम अभावे न भवंती न भवंती पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता चित्तवृत्तयः चित्तवृत्तया इन बाधकों के न होने पर फिर जो पहले बताई थी पांच चित्तवृत्तियां वो भी नहीं होंगी बाधक होंगे तो वृत्तियां हो जाएंगी वृत्तियां होंगी तो बाधक हो जाएंगे कोई भी हो दोनों में से एक होगा तो दूसरे पैदा हो जाएंगे तो यदि ये बाधक नहीं होंगे तो वृत्तियां भी नहीं होंगी इसलिए इन बाधकों को हटाना चाहिए अब एक एक की व्याख्या करेंगे तत्र तत्र व्याधि व्याधि धातु धातु रस रस करण करण वैषम्यम वैषम्यम तो पहली जो समस्या है पहला बाधक जो है वो है व्याधि तत्र इन नौ बाधकों में से व्याधि जो पहला बाधक है वो है धातु रस कर्ण वैषम्य धातु में विषमता रस में विषमता और कर्णों में विषमता इसका नाम है व्याधि मोटी भाषा में शारीरिक रोग व्याधि तो धातु शब्द से लेना चाहिए वात पित्त और कफ ये शरीर को धारण करते हैं वात पित्त और कफ शरीर को धारण करते हैं तो धारणा धातु जो धारण करे उसका नाम धातु आयुर्वेद की एक परिभाषा के अनुसार यदि वातविद कफ में विषमता आएगी वात बढ़ जाएगा पित्त बढ़ जाएगा कफ बढ़ जाएगा विषमता आएगी तो शरीर रोगी हो जाएगा कोई ना कोई रोग आएगा और वो फिर ध्यान में उपासना में बाधक बनेगा इसलिए एक तो व्याधि का स्वरूप क्या हुआ धातुओं में यानी वात पित्त कफ में विषमता होना इम्बेलेंस बैलेंस संतुलन बिगड़ जाना दूसरा है रस तो यहां रस शब्द से वो सात चीजें लेनी चाहिए रस रक्त आदि जो सात धातु हैं उनको भी धातु कहते हैं और यहां वाक्पित कफ को भी धातु कहते हैं तो रस शब्द अलग से लिखा है इसलिए हम उसको धातु शब्द से नहीं ले रहे धातु से वातपित कफ और रस से रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थिवीर ये सात धातु है ये सात चीजों में यदि असंतुलन होगा तो रोग आ जाएगा ठीक है किसी का रस जो है वो कच्चा है रस पकता नहीं तो आम दोष हो जाएगा और शरीर में रोग उत्पन्न करेगा परेशानी होगी ऐसे ही सारी सात चीजों में जहां जहां भी असंतुलन होगा तो रोग पैदा होंगे करण वैषम्य करण मतलब इंद्रिया आंख फूट गई कान बहरा हो गया उम्र के हिसाब से या चोट से या कैसे भी इंद्रियों में विषमता आ गई विकलता आ गई तो ये सब रोग के अंतर्गत शारीरिक रोग में गिना जाता है तो ये शारीरिक रोग योगाभ्यास में बाधक है इसलिए रोगों से बचना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए तो ध्यान उपासना में सुविधा होती है सहायता मिलती है दूसरा है स्त्यानम स्त्यानम अकर्मण्यता अकर्मण्यता चित्त चित्त तो त्यान का अर्थ है चित्त से अकर्मण्यता चित्त में कर्म करने की रुचि न होना एक व्यक्ति को याद तो है कि संध्या का समय हो गया अब बैठ जाओ ध्यान का समय हो गया ध्यान कर लो रुचि नहीं वो काम से बचना चाहता है इसको चालू हिंदी भाषा में कहते हैं काम से जी चुराना वो बचना चाहता है कहता है रोज तो संध्या करते हैं एक दिन नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ेगा छोड़ो कल कर लेंगे रोज ही तो करते हैं ऐसे कोई ना कोई बहाना करके वो काम से बचना चाहता है तो संध्या हो हवन हो और भी अच्छे अच्छे स्वाध्याय आदि जो भी अच्छे कर्म हैं उनसे व्यक्ति बचना चाहता है तो चित्त में काम करने में रुचि नहीं है इसका नाम है स्त्याना काम से जी चुराना ये भी बाधक है अगर हम काम में रुचि ही नहीं रखते काम से बचना चाहते हैं तो क्या प्रगति होगी काम ही नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे होगी नहीं हो पाएगी इसलिए ये भी एक बाधक है इससे बचना चाहिए रोग से बचना चाहिए और काम में जी चुराना इससे बचना चाहिए तीसरा बाधक बताते हैं संशय संशय उभय कोटि उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्पृग विज्ञानम तो ये संशय की परिभाषा है उभय कोटि स्पृग विज्ञानम दो किनारों को छूने वाला ज्ञान किसी विषय के दो किनारों को छूने वाला ज्ञान जैसे उदाहरण आगे लिखते हैं सियाद इदम एवं सियाद इदम एवं नैवम नैवम सियादिति सियादिति इदम ये वस्तु एवं सियाद ऐसी होनी चाहिए अथवा ऐसी नहीं होनी चाहिए नैवम सियादिति परमात्मा है अथवा नहीं है कर्मों का फल ईश्वर देता है या नहीं देता न्यायकारी है या अन्यायकारी है लोग कहते हैं कभी तो न्यायकारी और कभी अन्यायकारी बताओ ऐसा थोड़ी होता है जो अनाड़ी हो कमजोर हो दुर्बल हो वो तो चलो मानवीय है कभी ताकत होती है तो काम कर देता है और नहीं होती तो सो जाता है ढीला हो जाता है ईश्वर को ऐसा थोड़ी अनाड़ी कि उसमें शक्ति नहीं है कोई तकलीफ है कोई कमी आ जाती है तो वो कभी अन्याय कर दे कभी भूल जाता हो कभी स्वार्थ हो जाता हो कोई लोभ आ जाता हो चलो आज इसका जेब काट लो है ना ऐसा ईश्वर थोड़ी करता है तो लोग ईश्वर को समझते नहीं है इसलिए उल्टी सीधी बात करते हैं तो जब संसार में घटनाएं देखता है व्यक्ति तो उसके मन में ऐसे संशय पैदा होता है पता नहीं ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी वो कर्मों का हिसाब ठीक से रखता है कि नहीं रखता है इतने सारे जीव हैं असंख्य जीव हैं तो लोगों को संशय होता है कि वो अकेला इतने लोगों का हिसाब कैसे रखता होगा हम तो भूल जाते हैं दस आदमियों का भी नहीं रख सकते दस तो बहुत दूर की बात है अपना भी नहीं रख सकते सुबह से रात तक हमने क्या किया हम नहीं रख सकते यार भूल जाते हैं पता नहीं कितने कर्म वाणी से किए कितने मन से किए कितने शरीर से किए तो व्यक्ति सोचता है जब मैं एक अपना भी हिसाब नहीं रख सकता तो वो इतने अरबों खरबों जीवों का हिसाब कैसे रखता होगा ईश्वर ने इसलिए उसको संशय होता पता नहीं ईश्वर है नहीं है न्यायकारी है अन्यायकारी है कर्म फल देगा नहीं देगा कईयों को तो यही संशय रहता है कि हम इतने अच्छे काम करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है? हमारे अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता और लोग बुरे बुरे काम करते हैं उनको दंड नहीं मिलता तो ऐसी परिस्थिति देख के उनको डाउट होता है संशय होता है पता नहीं ईश्वर है या नहीं है तो ये संशय कहलाता है कि ये बात ऐसी है अथवा ऐसी है ये भी बाधक है मनुष्य क्योंकि अल्पज्ञ है अल्पज्ञ व्यक्ति को संशय होना स्वाभाविक है भ्रांति होना स्वाभाविक है कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर सर्वज्ञ है उसको कभी संशय नहीं होता उसको कभी भ्रांति नहीं होती उसकी यह समस्या नहीं है समस्या तो जीवात्मा की है वो अल्पज्ञ है थोड़ा जानता है थोड़ा जानने के कारण कहीं उसको संशय हो जाता है कहीं भ्रांति हो जाती है तो यदि किसी को संशय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है परंतु यदि संशय होकर के सदा बना ही रहे तो वो बाधक बन जाएगा तो गड़बड़ फिर प्रगति नहीं होने देगा इसलिए सही बात यह है कि संशय हो जाए कोई चिंता नहीं है पर उसका निवारण जरूर होना चाहिए उस संशय का भ्रांति हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है पर उस भ्रांति का निवारण अवश्य होना चाहिए मुख्य विषय में अगर मुख्य विषय में भ्रांति दूर हो गई मुख्य विषय में संशय दूर हो गया तो बस फिर तो रास्ता साफ है फिर व्यक्ति चलेगा पूरा उत्साह के साथ जोर से चलेगा इसलिए ये संशय हटना चाहिए यदि बना रहा तो ये बाधक बनेगा चौथा प्रमाद प्रमाद समाधि साधना नाम समाधि साधना नाम अभावनम अभावनम अब ये जो बाधक है चौथा प्रमाद ये स्त्यान से मिलता जुलता है थोड़ा अंतर भी है स्त्यान में तो क्या था कि व्यक्ति काम से जी चुराता है उसको याद तो है कि मुझे स्वाध्याय करना है मुझे ईश्वर का ध्यान करना है याद है सब समय भी हो गया पर वो करना नहीं चाहता उससे बचना चाहता है कि और कोई काम आ जाए तो मैं उस काम का बहाना बना करके उसमें लग जाऊं और इससे पीछा छूट जाए इस स्वाध्याय से और ध्यान से और काम का बहाना लग, लगा करके उसमें लग जाऊंगा तो वो तो हस्त्यान अब प्रमाद में क्या है समाधि साधन नाम अभावना समाधि के जो साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारणा ध्यान ये सात अंग इनको वो अभावनम इनको उत्पन्न नहीं करता उत्पन्न नहीं करता का तात्पर्य यह है कि वो याद नहीं रखता भूल जाता इसको चालू भाषा में बोलते हैं लापरवाही लापरवाही केयरलेसनेस वो याद ही नहीं रखता फिर जब समय निकल जाता है फिर कहता हो आज संध्या करनी भूल ही गया मुझे याद ही नहीं आया संध्या करनी थी पर पहले वाले में याद तो था दोनों में अंतर क्या है ध्यान में उसको याद था पर वो करना नहीं चाहता था इस दूसरे प्रमाद में भूल ही गया ध्यान ही नहीं दिया ध्यान नहीं देता लापरवाही करता है काम भूल जाता है तो इसका नाम है प्रमाद अगला बात है पांचवा आलस्यम आलस्यम कायस्य कायस्य चित्तस्य चित्तस्य च च गुरुत्वा गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः अप्रवृत्ति तो आलस्यम आलस्य का मतलब है कायस्य चित्तस्य च काया कहते हैं शरीर को चित्त कहते हैं मन को तो शरीर में और मन में गुरुत्वा भारीपन होने से थकान होने से अप्रवृत्ति काम में रुचि नहीं हो पा रही मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा इच्छा भी है याद भी है करना भी चाहते हैं पर शरीर साथ नहीं दे रहा अब क्या करें थकान इतनी अधिक है रात को नींद पूरी हुई नहीं बस वो मच्छर काटते रहे गर्मी लगती रही और अब क्या करें नींद तो पूरी हुई नहीं थकान तो बनी हुई है तो अब बैठेंगे भी तो फिर ऐसे नींद आएगी आलस्य आएगा तो ये शरीर में थकान मन में भारीपन आदि आदि कारणों से व्यक्ति चाहते हुए भी काम नहीं कर पाता उसका शरीर आदि साथ नहीं देता इस दोष या बाधक का नाम है आलस्य जी मन में भारीपन का मतलब मन भी थका थका सा है मन में भारीपन का मतलब जैसे शरीर में थकान है ना तो जब शरीर में थकान होती है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है मन में भी उत्साह नहीं रहेगा तो शरीर साथ नहीं दे रहा तो कहता चलो अभी तो सो ही जाए एक घंटा सो लेते हैं फिर बाद में देखेंगे होगा तो होगा नहीं होगा तो फिर क्या करें बैठा ही नहीं जा रहा यूं झोंके आ रहे हैं नींद आ रही है तो इससे तो अच्छा अपना ढंग से सो ही जाओ एक घंटा तो रेस्ट करो जब शरीर स्वस्थ हो जाए चुस्त हो जाए फिर बैठो ध्यान वो ठीक है अब यूं घंटे भर आप बैठे रहो और यूं हर तीन चार मिनट में यूं झटका मारो तो उससे तो कोई लाभ नहीं सारा एक घंटा भी बर्बाद हुआ ना ध्यान हुआ ना विश्राम हुआ कुछ भी नहीं हुआ उससे तो अच्छा एक टाइम में एक काम निपटा लो बाकी बाद में दूसरा करो तो इस तरह से जब शरीर में थकान होती है तो मन में भी रुचि नहीं रहती उत्साह नहीं रहता काम करने का वो मन का भारीपन है ये हो गया पांचवा बाधक आलस्य छठा अविरति ही चित्तस्य चित्तस्य विषय विषय संप्रयोगात्मा संप्रयोगात्मा गर्ध गर्ध अविरति कहते हैं चित्तस्य चित्त का विषय संप्रयोगात्मा विषयों के साथ संबंध जोड़ने के स्वरूप वाली गर्ध इच्छा भोगों का सुख लेने की इच्छा इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रसगंध आदि उनका सुख लेने की इच्छा बनी है मन में तो वो ध्यान में मन नहीं टिकने देगी वो इच्छा अब व्यक्ति बैठेगा तो यहां ध्यान में और मन में तो इच्छा है कि गुलाब जामुन खाने हैं आठ बजे रात को गुलाब जामुन खाएंगे दोपहर में तीन बजे हमने मंगा के रखे हैं बढ़िया बढ़िया गरम गरम करके खाएंगे अब वो तो मन में तो गुलाब जामुन की उपासना चल रही है ईश्वर की क्या उपासना करेगा वो ईश्वर में तो मन टिकेगा नहीं तो कहीं गुलाब जामुन खाने की इच्छा है कहीं रसगुल्ला खाने की इच्छा है कहीं शॉपिंग करने की इच्छा है कहीं वहां पिक्चर देखने की इच्छा है कहीं दोस्त से गप्पे मारने की इच्छा है तो इंद्रियों के भोगों में जो इच्छा बनी रहती है मन में उसका नाम है अविरति विरति का अर्थ है वैराग्य और अविरति वैराग्य नहीं है बल्कि भोगों में रुचि है ये भोगों में जो रुचि है वो घसीट के वहीं ले जाएगी तो ईश्वर में ध्यान नहीं टिकेगा ये बाधक बनेगी इस प्रकार से ये अविरति छठा बाधक है ध्यान नहीं तो ये सब बातें लगभग आती है इसीलिए आती है इसीलिए तो ध्यान नहीं लगता ये सारी बातें आती हैं वो सारी गिना रहे हैं कि ये ये सारे बाधक हैं इनको पहचानो अपने अंदर ढूंढो कि हमारे अंदर कौन कौन से बाधक हैं उन बाधकों को दूर करो कुछ मोटे मोटे उपाय और कुछ ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाएंगी इसलिए बता रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ये सारे बाधक दूर हो जाएंगे तो प्रयास करना चाहिए ईश्वर पर निधान करने का ताकि ये सारे बाधक दूर हो जाएं और फिर हम ईश्वर में ठीक ढंग से ध्यान कर सकें मन लगा सकें ये हो गया छठा बाधक अब है सातवां भ्रांति दर्शनम भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम विपर्य ज्ञानम तो भ्रांति दर्शन ये सातवां बाधक है इसका अर्थ है विपर्य ज्ञानम विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान तो ये मिथ्या ज्ञान जैसे विपर्य वृत्ति में आया था कुछ कुछ वो भी ले सकते हैं और कुछ कुछ ये भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति ध्यान में बैठा और ध्यान में थोड़ा थोड़ा उसका मन टिकने लग गया और फिर उसको क्या हुआ अंदर से प्रकाश दिखने लगा कई लोगों को ध्यान में प्रकाश दिखता है लाल पीला नीला हरा केसरी कई रंग का प्रकाश दिखता है और कभी कभी वो रंग बदलते भी रहते हैं और कभी एक जैसा ही बना रहता है तो वो जो प्रकाश दिखता है बहुत से लोग उस प्रकाश को ईश्वर मान लेते हैं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है हे ज्ञान हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहते ही अग्नि नाम भी है ईश्वर का आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तो ईश्वर सूर्य के समान तेजस्वी है तो लोग समझते हैं जैसे सूर्य चमकता है ऐसे ही भगवान भी चमकता है उसका भी ऐसे ही रंग है जैसे सूर्य का चमकता रंग है तो अग्नि सूर्य प्रकाश आदि आदि शब्दों से लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि ईश्वर में भी सूर्य जैसा कोई भौतिक प्रकाश है और जब वो प्रकाश अंदर से दिखने लगता है ध्यान में तो वो समझते हैं बस हमको भगवान का दर्शन हो गया हमारा काम कंप्लीट हमको भगवान का दर्शन हो गया छुट्टी काम खत्म ऐसा वो भ्रांति में पड़ जाते तो पतंजलि महाराज ये कहना चाहते हैं ये ईश्वर का दर्शन नहीं है ये तो भ्रांति दर्शन है ईश्वर का नहीं भ्रांति का दर्शन है आपने भ्रांति ज्ञान पकड़ लिया इसको दूर करो ये तो विपरीय ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ये नहीं है ईश्वर तो फिर ईश्वर का अग्नि स्वरूप या प्रकाश स्वरूप कहने से क्या तात्पर्य उसका तात्पर्य है कि वैदिक साहित्य में तमस अंधकार अविद्या का पर्याय वाची ओम तमसोमा ज्योतिर्गमया और ज्योति प्रकाश अग्नि ये ज्ञान का पर्यायवाची है विद्या का तो जब हम कहते हैं ओम असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए और तमस से विद्या की ओर ले चलिए ज्योति की ओर तो इसका अर्थ होगा अविद्या अंधकार से छुड़ाकर विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए तो जब हम कहेंगे ईश्वर प्रकाश स्वरूप है इसका अर्थ होगा वो ज्ञान स्वरूप है तो जब भी ईश्वर के लिए वेदों आदि में अन्य शास्त्रों में भी ये प्रयोग आएगा शब्द का ईश्वर अग्नि स्वरूप है वो सूर्य के समान तेजस्वी है वो प्रकाश स्वरूप है प्रकाश की अग्नि है तो उसका अर्थ होगा ज्ञान स्वरूप ऐसा चेतन ज्ञानवा ऐसा अर्थ करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो इस प्रकार से इस भ्रांति दर्शन को मिथ्या ज्ञान को दूर करना चाहिए और उस प्रकाश को ईश्वर न मानकर वो सत्व गुण का भौतिक प्रकाश मानना चाहिए और ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है जब समाधि में ईश्वर की अनुभूति होगी तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा वो होगा ईश्वर का प्रत्यक्ष वो होगा ईश्वर का दर्शन या साक्षात्कार तो ये हो गया सातवां आठवां अलब्ध भूमिकत्व अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमेर समाधि भूमे अलाभ अलाभ ये आठवां बाधक है जिसका नाम है अलब्ध भूमिकत्व भूमि का अर्थ है अवस्था एक स्टेज एक स्थिति समाधि समाधि एक अच्छी स्थिति है उस समाधि अवस्था का नाम है भूमि तो समाधि भूमेर अलाभ इसकी प्राप्ति न होना एक व्यक्ति 20 साल से लगा हुआ है रोज ध्यान करता है और 20 साल हो गए उसको समाधि प्राप्त नहीं हुई तो उसका उत्साह टूट जाएगा घबरा जाएगा टेंशन में आ जाएगा पता नहीं होगा अभी क्या नहीं होगा बीस साल तो हो गए पता नहीं कब होगा भगवान है या नहीं है फिर वही उसको डाउट शुरू हो जाएगा और वो निराश हो जाएगा और कहेगा छोड़ो क्या हो बीस साल तो हो गए और कब मिलेगा अब तक नहीं मिला छोड़ो वो निराश हो जाएगा ये एक बाधक है जिसके कारण निराशा पैदा होती है और व्यक्ति प्रयास छोड़ देता है तो समाधि प्राप्त न होना यह भी एक बाधक है कोई बात नहीं तब फिर से यह सोचना चाहिए भाई समाधि तो ऊंचा स्तर है बीए के लेवल का है चलो बीए तक पास नहीं हुए आठवीं तो पास कर ली सातवीं आठवीं कक्षा तो पास कर ली इतने पर संतोष करना चाहिए आगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वहां तक भी पहुंच जाएंगे ऐसे चलना चाहिए और इस बाधक से बचना चाहिए निराश होकर के छोड़ना नहीं चाहिए जो बुद्धिमान होते हैं धार्मिक होते हैं पुरुषार्थी होते हैं उत्साही होते हैं वो काम को बीच में नहीं छोड़ते पूरा करके छोड़ते जितना भी समय लगे जितनी भी मेहनत करनी पड़े पूरा करके छोड़ेंगे इसलिए बीच में छोड़ना ठीक नहीं और आखिरी नौवा बाधक बोलिए अनवस्थितत्व अनवस्थित लब्धायाम लब्धायाम भूमौ भूमौ चित्त अप्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा तो एक व्यक्ति को समाधि प्राप्त हो भी गई लब्धायाम भूमो भूमि प्राप्त हो गई अवस्था मिल गई पर उसके बाद वो चित्त उसमें टिक नहीं पाया एक दिन तो मिली फिर दो दिन भी मिली फिर तीसरे दिन छूट गई फिर पांच साल हो गए अब तक हाथ में नहीं आई दोबारा आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे और हो सकता है आपका भी ऐसा अनुभव हम्म। कभी कभी ऐसा होता है चलो समाधि ना सही ऐसा अनुभव लगभग कई लोगों का होता है कि देखो जी उस दिन हम बैठे बहुत अच्छा ध्यान लगा बहुत आनंद आया मजा आ गया पर आज से दो साल हो गए उस दिन के बाद आज तक वैसी स्थिति नहीं आई दो साल हो गए ऐसा तो होता ही ना हाँ। कभी कभी अच्छी स्थिति बन जाती है और फिर वो दोबारा दो साल पांच साल तक नहीं बनती तो ये ये वही बात है हम्म। समाधि ना सही जो भी थी उतनी भी तो हाथ में नहीं आ रही तो उससे भी व्यक्ति फिर निराश होता है कि पता नहीं क्या होगा कहां भटक गए हम वो कैसे वहां तक पहुंचे थे अब दोबारा पहुंच ही नहीं पा रहे तो इस प्रकार से भी निराशा आती है इसको अनवस्थितत्व तो कहते हैं चित्त का उस स्थिति में स्थिर न रहना और वो स्थिति हाथ में आई और खो गई फिर वापस नहीं आई ये भी एक बाधक है तो ये कुल मिलाकर नौ बाधक बताए आगे बढ़ेंगे समाधि प्रतिलंबे समाधि प्रतिलम्बे ही सती ही सती तद अवस्थितम तद अवस्थितम सियादिति सियादिति ये उसी की बात कर रहे हैं समाधि प्रतिलंभे ही सती समाधि प्राप्त हो जाने पर या और भी कोई अवस्था जो प्राप्त हुई थी वही जो भी हमें प्राप्त हुई उस अवस्था के प्राप्त होने पर तत् अर्थात चित्तम वह चित्त अवस्थितम सियादिति उसमें अवस्थित होना चाहिए था और लगातार रोज वैसी स्थिति बननी चाहिए थी पर नहीं बन पाती कोई बीच में कारण बनते हैं कभी राग कभी द्वेष कभी फिर वो ऊपर वाले कई बाधक हैं कहीं आलस्य कहीं प्रमाद कहीं स्त्यान और कहीं फिर भोगों की इच्छा और फिर कहीं कुछ कहीं कुछ अविद्या ये सब राग द्वेष चलता रहता है और व्यक्ति वैसी स्थिति दोबारा प्राप्त नहीं कर पाता जो पहले हुई थी तो ये नोवा बाधक हो गया अब अंत में कहते हैं ए चित्त विक्षेपा चित्त विक्षेपा नव नव योगमला योगमला योग प्रतिपक्षा योग प्रतिपक्षा योगान्तराया योगान्तराया इति अभिधीयते इति अभिधीयते तो एते ये जो है नौ नव नौ चित्त विक्षेपा ये नौ चीजें चित्त के विक्षेपक हैं चित्त की स्थिति को खराब करते हैं और योग मलाह योग अभ्यास के ये मल है गड़बड़ करने वाले दूषक योग प्रतिपक्षा योग के विरोधी है योग अंतराया योग के बाधक हैं शत्रु हैं इन नामों से ये कहे जाते हैं अंतराय कहिए बाधक कहिए शत्रु कहिए योग के मल कहिए जो भी कहिए इन नामों से ये कहे जाते हैं तो ये नौ बाधक ईश्वर प्रणिधान से हट जाते हैं या तो होते ही नहीं और हो जाए तो हट जाते हैं इसलिए ईश्वर निधान करना चाहिए और इन बाधकों को हटाकर समाधि की प्राप्ति करनी चाहिए कोई प्रश्न पूछना हो तो बोलिए दो प्रश्न बोलिए एक तो ये क्रम जो बताए नौ हम्म। का हम्म। उसमें कुछ विशेषता है या ऐसे ही पड़ा है क्रम तो समाज के कारण भी होता है हम्म। वो व्याकरण के नियम होते हैं जहाँ छोटे शब्द होते हैं वो पहले रखे जाते हैं द्वंद्व समाज में जो बड़े होते हैं वो बाद में वो तो क्रम उस कारण से भी हो सकता है स्थूल और सूक्ष्म की दृष्टि से सोचे तो स्थूल बाधक और वो ऐसा कोई विशेष इसमें विचार नहीं किया बस इतने बाधक गिना दिए सब जगह पर ऐसा क्रम नहीं होता हम्म। शास्त्रों में दो तरह का क्रम होता है एक पाठक्रम और एक अर्थक्रम तो कहीं अर्थक्रम होता है कहीं पाठक्रम होता है अर्थक्रम वहां होता है जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जो कार्य पहले किया जाएगा व्यवहार में जो बाद में किया जाएगा उसी क्रम से बोलना ये अर्थक्रम है और पाठ्यक्रम में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि पहले क्या किया क्या किया जाएगा बाद में क्या किया जाएगा बस खाली गिनती कर देते हैं कोई अतिथि आएगा उसको भोजन खिला देना बिस्तर बता देना रूम बता देना मुंह हाथ धुला देना और उसको पूछ पाछ लेना भाई ठीक ठाक है अब ये बस गिनती कर दी ये ये ये कर देना अब ये थोड़ी इसी क्रम से थोड़ी व्यवहार चलेगा वो आएगा तो पहले खाना खिलाओ बाद में धुलाओ ऐसा थोड़ी होगा पहले हाथ धुलाएंगे फिर बिठाएंगे फिर उससे हालचाल पूछेंगे फिर भोजन खिलाएंगे फिर उसको कमरा बताएंगे भाई आप यहां सो जाओ विश्राम कर लो जो भी तो इस प्रकार से केवल गिनती कर दी तो पाठक्रम और व्यवहारिक क्रम से बोला तो अर्थक्रम तो कहीं पाठक्रम होता है कहीं अर्थक्रम होता है कहीं व्याकरण के नियमों से शब्दों को आगे पीछे भी कर लेते हैं द्वंद्व समास में इसमें द्वंद्व समास है इसलिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं यहां पे पाठक्रम हाँ यहाँ तो पाठ्यक्रम ही लग रहा है जी और दूसरा ईश्वर परिधान से ये कैसे दूर होंगे क्योंकि ये पता है हाँ, मेरी जो जान है हाँ, जितनी जानकारी है उतना तो दूर कर सकते कि हम्म। कुछ घोटाला कर रहे तो ईश्वर परिधान किया हम्म। उपस्थिति में हूँ तो ठीक कर जो पता ही नहीं है उसको ईश्वर परिधान कुछ ठीक कर सकता है ईश्वर प्रणिधान क्या है ईश्वर की उपस्थिति में मैं उपस्थित हूँ हाँ वो उपस्थिति ही कुछ गलत कर रहा हूं ये तो केवल एक भाव है ईश्वर की उपस्थिति में मैं कार्य कर रहा हूं ये तो एक भाव है कल पांच बातें बताई थी बातें बताई थी पहली बात थी ईश्वर से पूछ के करना जब आप सारे काम ईश्वर से पूछ के करेंगे तो सारे घोटाले वहीं खत्म हो जाएंगे पर वहां गड़बड़ कोई बचेगी नहीं <laughs> एक है कि जो पता है ना वही तो ठीक से होंगे जो पता ही नहीं है हाँ तो उसके लिए फिर ईश्वर परिधान में क्या कहा चलो स्वाध्याय भी करो अपना ज्ञान बढ़ाओ तो चिंतन करो ध्यान करो ईश्वर हमारा ज्ञान और बढ़ाएगा अंदर से बढ़ाएगा तो जिनका पता नहीं है आज आज पता नहीं है दो महीने में छह महीने में उनका भी पता चल जाएगा रोज हमारा ज्ञान बढ़ता है व्यवहार से भी बढ़ता है चिंतन से बढ़ता है पठन पाठन से बढ़ता है क्रियात्मक आचरण से बढ़ता है ध्यान उपासना से बढ़ता है तो ये ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत है कि नियम पूर्वक सारे काम करो सोना जागना उठना बैठना खाना पीना व्यवहार व्यायाम करना सारी स्वास्थ्य की ध्यान रखना देखभाल करना तो जब ये सारे काम करते जाएंगे तो सारा ईश्वर प्रणिधान चल रहा है और इसके करने से हमको बहुत सारी गलतियां समझ में आती जाएंगी कि हम पहले उस दिन वो चीज खा ली हमने वो ठीक नहीं हुई उसका परिणाम अच्छा नहीं आया तो आज वो सुधार करेंगे आज उस तरह से नहीं खाएंगे वो चीज नहीं खाएंगे तो देखो ईश्वर पर ध्यान से पता चल गया गलतियां भी समझ में आ गई जो पहले भूले हुई वो भी आज पकड़ में आ गई और वो हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि हम ईश्वर की सम्मति से कार्य करते हैं ईश्वर से पूछ के करते हैं ईश्वर की परमिशन से करते हैं इसलिए जो जो गलतियां समझ में आती जाएंगी उन उनको छोड़ते जाएंगे तो रोग आदि सब हट जाएंगे स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा ऐसे सारे वाले घट जाएंगे फिर कभी काम में जी चुराने की इच्छा होगी तो ईश्वर परिधान करना पड़ेगा उससे पूछना पड़ेगा हे ईश्वर आज तो इच्छा नहीं है संध्या करने की छोड़ दू आज <laughs> ईश्वर क्या बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना खाने की बात तो नहीं छोड़ते तुम यूं नहीं कहते आज आज खाना छोड़ दू ये नहीं पूछते खाने के लिए तो डबल खाएगा भूख नहीं होगी तो भी खाएगा और स्वाद लगती है तो और ज्यादा खाएगा और यहां संध्या में <laughs> जान छुड़ाना चाहता है ऐसा नहीं चलेगा तो जब ऐसे ऐसे ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो हमारा स्त्यान आदि सब दूर हो जाएगा आलस्य प्रमाण सब दूर हो जाएगा इस प्रकार सारे बाधक दूर हो जाएंगे ईश्वर प्रणिधान करने से जी जी ईश्वर आपके अंदर है या बाहर है है ना लेकिन तो, कभी कभी कैसे आ, अंदर ऐसी रहती है ना मतलब कैसे एक थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए प्रैक्टिकल सुनो प्रैक्टिकल हाँ। सुनो मान लो ये बच्चा है और ये बच्चा वो एक ऊंची जगह पर कोई वस्तु रखी है उसको उठाना चाहता है इसका हाथ नहीं पहुंचता और हम वहीं बैठे और हमने देख लिया कि ये बच्चा ऊपर से वस्तु उठाना चाहता है और हाथ नहीं पहुंच रहा तो इसको घटना को देखकर हमारे मन में कुछ विचार उठेगा या नहीं क्या उठेगा कि मैं इसकी सहायता करूं तो बस जैसे ही विचार उठेगा तो ईश्वर से पूछो कि इस बच्चे की सहायता करूं ईश्वर से पूछो हे ईश्वर ये बच्चा ये वस्तु उठाना चाहता है ये उठा नहीं पा रहा क्या मैं इसकी सहायता कर दूं तो ईश्वर तो अंदर ही बैठा है तुरंत तो जवाब दे देगा हाँ हाँ करो करो अगर अच्छी चीज उठा रहा है इसके लिए लाभकारी है तो ईश्वर का उत्तर होगा हाँ हाँ इसकी सहायता करो इसको दे दो वस्तु और ये कोई चाकू छुरी उठाना चाहता है तो ईश्वर मना करेगा ये मत देना यहां इसकी सहायता मत करना इसको तुम माचिस दे दो हाथ और उल्टा सीधा कर लाए कुछ कर डालेगा इसको चाकू छुरी उठाता हो तो ये मत लेना और एक आवाज अंदर से भी चलती है ना कि हम्म। नहीं नहीं करना मतलब कभी कोई अच्छे काम करने की इच्छा होती है लेकिन फिर से वो हम रुक भी जाते हैं हाँ वो क्यों रुक जाते हैं हम अच्छा काम करने की इच्छा है और फिर भी हम अंदर से रुक जाते हैं क्यों रुक जाते हैं वो हमारी गलती है हम उस अच्छे काम को उस समय बुरा समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे अब ये हम गलत सोच रहे हैं ये हमारा चिंतन ईश्वर का नहीं हमारा जो चिंतन ठीक होगा हमारा जो सही चिंतन होगा तो ईश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा हाँ हाँ ये काम जरूर करो और जो हमारा गलत चिंतन होगा उसमें हम गलत निर्णय ले सकते हैं उसमें ईश्वर का गलत निर्णय में कोई सहयोग नहीं होता तो इसलिए बार बार हमको अपने चिंतन का परीक्षण भी करते रहना पड़ेगा स्वाध्याय भी करना पड़ेगा शास्त्रों को मिला करके देखना पड़ेगा जहां संशय हो वहां विद्वानों से पूछना भी पड़ेगा कि जी मेरे मन में उस दिन ऐसा आ रहा था कि बाजार में माता जी मिल गई और मेरी इच्छा तो हो रही थी मैं पाँव छू के नमस्ते कर लू फिर यूं सोच संकोच कर लिया कि लोग क्या कहेंगे कि बाजार में पाँव छू कर <laughs> ऐसे ऐसे संकोच हो गया तो फिर ऐसे ऐसे विचार करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि माँ के पाँव छूना कोई पाप थोड़ी है घर में छुओ बाजार में छुओ कहीं भी छुओ अपनी माँ है कभी भी पाँव छू सकते हैं कहीं भी छू सकते हैं सुबह हमको माता जी नहीं मिली थी अब पहली बार मिली उस दिन दिन में पहली बार वहां सामने आमने हुए तो जब भी पहली बार मिले पाँव छू के नमस्ते कर लो क्या बोलिए इसमें तो ऐसे ऐसे स्वाध्याय से चिंतन से मनन से विचार से जो हमारी अविद्या के कारण हमने गलत निर्णय लिया था वो भी ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे वो गलतियां सारी दूर होती जाएंगी तो संस्कार तो हाँ जी हाँ ये संस्कार की वजह से हमको ये शंका हुई कि ये करूं या नहीं करूं लोग क्या कहेंगे ये संस्कार के कारण ऐसा हुआ जी कोई साधन में बैठा है और साधन करते करते उसको विचार आ गया तो मुझे सत्संग में जाना है जी तो उस हालत में क्या करना चाहिए उसको तो छोड़ना पड़ेगा हाँ एक छोड़ना पड़ेगा तो जी या तो सत्संग छोड़ दो उसको सब ध्यान में बैठने से पहले देखना चाहिए कि मेरा आज का क्या टाइम टेबल है मुझे कहाँ जाना है आज शाम को सत्संग है या नहीं है उसका क्या समय है ध्यान का क्या समय है उसको पहले से सेटिंग करके बैठना चाहिए ये थोड़ी के ध्यान में बैठा है और अब अचानक याद है और सत्संग में जाना पहले प्लानिंग बना के पहले से प्लानिंग करके होता है तब ध्यान ज्यादा लग जाता है तो समय निकल जाता है हाँ, तो निकल गया तो निकल गया उस दिन छोड़ दो सत्संग छोड़ दो ध्यान को प्राथमिकता देनी चाहिए आपका ध्यान अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है तो फिर ध्यान को मत छोड़ सत्संग का टाइम निकल गया तो जाने दो सत्संग में उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको ध्यान में होगा यहां तो आनंद मिल ही रहा है वहां तो डाउटफुल है पता नहीं वहां क्या सब्जेक्ट मिलेगा सुनने को समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा उसका लाभ होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है ये तो हो ही रहा है प्रत्यक्ष इसलिए उसको प्राथमिकता देनी चाहिए फिर सत्संग को छोड़ देना चाहिए उस दिन ठीक है आगे चले हाँ। तो ये हो गए नौ बाधक अब सूत्र इकतीस में इससे मिलते जुलते इन बाधकों के कुछ और साथी हैं उनकी चर्चा है तीन चार बाधक और भी हैं आगे पढ़िए दुख दुख दौर मनस्य दौर मनस्य अंग में जयत्व अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव विक्षेप सह भुव इस इकतीसवें सूत्र में विक्षेप सह भुआ विक्षेपों के साथ ही साथ में होने वाले विक्षेपों के साथ में होने वाले ये और भी कुछ उप विक्षेप हैं उपबाधक हैं उपविघ्न हैं उनमें से एक है दुख दूसरा है मनस्य तीसरा है अंग में जयत्व और चौथा है श्वास प्रश्वास ये चार हो गए नौ और चार तेरह हो गए तो ये भी इन विक्षेपों के साथी हैं ये भी बाधक ही हैं इनसे भी बचना चाहिए ये सूत्र का अर्थ हुआ व्याख्या भाष्य में पढ़ते हैं दुखम दुखम आध्यात्मिकम आध्यात्मिकम आधि आधि भौतिकम आधि दैविकम आधि दैविकम च दुख से तात्पर्य है तीन प्रकार का दुख आध्यात्मिक आधी भौतिक आधी दैविक इसका मोटा मोटा विभाजन इस तरह से समझना चाहिए जो हमारी अपनी गलतियों से दुख होता है अपनी मूर्खता से अपनी अविद्या से जो हम दुख उठाते हैं वो समझ लीजिए आध्यात्मिक जैसे आप भोजन बना रहे हैं और तवे पर रोटी सेक रहे हैं और रोटी फूल गई और उसमें से गरम गरम हवा निकली और हाथ जल गया <laughs> हमारी गलती से जला तो ये उससे जो दुख हुआ ये आध्यात्मिक दुख है एक व्यक्ति सब्जी काट रहा था चाकू लेकर और सब्जी भी काट रहा है और बातें भी कर रहा है गप्पे भी मार रहा अब ध्यान चला गया बाद में और उंगली काट बैठा अपनी गलती से हुआ ना तो ये आध्यात्मिक एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा है और चलते चलते ध्यान नहीं दिया पत्थर ऊंचे नीचे थे सड़क पे और वो दीवार पे वो बोर्ड पढ़ने लगा क्या लिखा है और वहां पत्थर से पांव टकराया और चोट लग गई अपनी गलती से हुआ ये आध्यात्मिक खाने पीने का पता नहीं उसको उल्टा सीधा खा लिया बीमार पड़ गया फिर अपनी गलती से रोगी हुआ तो ये आध्यात्मिक दुख एक ने व्यापार में गलत निर्णय लिया कि इस सौदे को इस तरह से बेचना चाहिए इसमें लाभ होगा और वो निर्णय था गलत और तो नुकसान उठाया तो अपनी गलती से हुआ ये आध्यात्मिक दुख इस प्रकार से बहुत सारी गलतियां हम खुद स्वयं करते हैं अपनी अविद्या के कारण वो गलतियां करते हैं और उससे हमको दुख भोगना पड़ता है ये आध्यात्मिक दुख है तो जब आध्यात्मिक दुख होता है तो फिर भी मन उखड़ जाता है उससे फिर ध्यान में मन नहीं टिकता इससे भी बचना चाहिए दूसरा दूसरा आदि भौतिक आदि भौतिक है दूसरे प्राणियों से होने वाला मच्छर काटता है मक्खी परेशान करती है कुत्ता काटता है सांप भिक्षु परेशान करते हैं कौए कबूतर चिड़िया घर में घुस जाती हैं चोर डाकू आ जाते हैं आतंकवादी आता है गोली मारता है बम फेंकता है ट्रेन का है बस का एक्सीडेंट होता है कोई विमान दुर्घटना हो जाती है ऐसे दूसरे प्राणियों मनुष्यों आदि की गलतियों से जो दुख हमें अन्यायपूर्वक भोगना पड़ता है अन्यायपूर्वक ये ध्यान दीजिए जो न्यायपूर्वक मिलता है वो तो कर्म भर हुआ अब ये न्याय से नहीं हो रहा ये तो अन्याय से हो रहा है चोर ने हमारे यहां चोरी कर ली अन्याय किया हमारे साथ और उससे हमको दुख हुआ ये आधिभौतिक दुख कहलाएगा तो इसी प्रकार से जितना भी प्राणियों के कारण हमको अन्याय से दुख मिलता है ये आधिभौतिक दुख है ये भी बाधक है इससे भी बचना चाहिए तीसरा आधिदैविक दुख कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी दुख आते हैं जैसे भूकंप आ गया कभी कभी कई वर्ष पहले लातूर में भूकंप आया था फिर उसके बाद गुजरात में आया था कच्छ में ऐसे कभी कभी भूकंप आते रहते हैं जापान में आते रहते हैं पाकिस्तान में और भी अमेरिका आदि में आते ही रहते हैं भूकंप तो भूकंप से हानि हो जाती है मकान गिर जाते हैं लोग मर जाते हैं नुकसान होता है वो सारा आधि दैविक दुख है कभी बहुत गर्मी पड़ती है गर्म हवाएं चलती हैं तेज लू के नाम से लू चलती है तो उसमें बहुत से लोग रोगी हो जाते हैं मर भी जाते हैं कभी बहुत ठंडी पड़ती है ठंड में मर जाते हैं बहुत वर्षा होती है बाढ़ आ जाती है डूब जाते हैं उसमें मर जाते हैं पशु भी मरते हैं मनुष्य भी मरते हैं तो ये प्राकृतिक दुर्घटना है इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं में जो हानि होती है दुख आता है इसको आदि दैविक दुख बोले तो शास्त्र ये कहते हैं जिसने यहां संसार में जन्म ले लिया उसको तीन दुख भोगने पड़ेंगे कल भाष्य में था ना त्रे ते ही त्रीणी बंधनानी छित्वा कैवल्यम प्राप्त तो जो आत्मा मुक्ति में जाएगा वो संसार में जन्म लेगा और यहां तीन तरह के दुख भोगेगा और फिर इनको पार करके फिर मोक्ष होगा उसका तो दुख तो आएगा ही इससे बचने की कोशिश करें ये बाधक है पूरा प्रयास करें सावधान रहें अपनी भी गलतियां ना हो और दूसरा व्यक्ति कहां गलती करेगा उससे बच के चले आप सड़क पर चलते हैं चाहे पैदल चलते हैं चाहे स्कूटर में चलते हैं या कार में चलते हैं तो ये ना सोचें कि दूसरा आदमी हमको बचाएगा हाँ <laughs> अपनी सावधानी अपने हाथ में हम इतनी सावधानी से चलें सड़क पर खुद को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है इतनी सावधानी रखेंगे तो जाके दुर्घटनाओं से बच पाएंगे और लापरवाही करेंगे तो खुद भी मारे जा सकते हैं दूसरा भी मार सकता है कोई भी टक्कर मार तो सकता है ऐसा भी अवसर करके होता है हम्म। हम संभाल के चलते हैं हम्म। संभाल के देख के चलते हैं दूसरे को बचाने की कोशिश करें और पीछे से कुछ धोखा लगा देते इसीलिए तो कहा मोक्ष में जाओ इसीलिए तो कहा ना मोक्ष में जाओ यहाँ रहोगे तो टक्कर लगेगी चाहे पीछे से लगे चाहे दाएं से लगे चाहे बाएं से लगे कहीं से भी लगे यहाँ तो खतरा है भीड़ के जमाने में ऐसा होता ही यहाँ तो चौबीस घंटे खतरा है भीड़ क्या अकेले हो तो अपनी गलती से भी हो सकता है कहीं भी कोई भी किसी की भी गलती हो नुकसान हो सकता है यहाँ यहाँ पर सुरक्षा नहीं आप अब तो चलो सड़क पे भी नहीं चल रहे घर में बैठे हैं रात को भूकंप आ गया मकान की छत गिर के बोलो क्या करेंगे वो अपने बस की बात नहीं है ना तो जो संसार में आएगा जन्म लेगा उस पर ये तीनों दुख का खतरा है हर समय कहीं भी जाओ पूरी सुरक्षा यहां नहीं है पूरी सुरक्षा केवल मोक्ष में है वहां कोई खतरा नहीं कोई अटैक नहीं हो सकता किसी का भी ना बम का ना विस्फोट का ना पिस्तौल का ना चाकू का ना बाढ़ का ना तूफान का ना भूकंप का वहां कोई खतरा नहीं इसलिए वहां जाना वहां पूरी सुरक्षा है उसी के लिए हमको प्रयास करना जी जब वो जीव मोक्ष में चला जाता है जी तो वो हंड्रेड परसेंट प्योर होने के बाद ही चला जाता है जी तो सारे दुख जो है ना समाप्त हो जाते हैं ठीक तो फिर जो है ना वापिस जो है ना जब वो जगत में जो जीव को आना पड़ता है तो ये दुख क्यों भोगना पड़ता है इसलिए कि जब मोक्ष में गया था तब उसके कुछ कर्म यहाँ बाकी बचे हुए थे उसके अकाउंट में स्टॉक में बचे हुए थे उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए उसको वापस लौटना पड़ता है वापस बचे हुए जब कर्म रहते तो वो मोक्ष में जाता कैसे हाँ वो ऐसे जाता है कि मोक्ष में जाने की कंडीशन ये नहीं है कि आपके सारे कर्म खत्म हो जाए तब आप मोक्ष में जाएंगे ऐसा नहीं है उसकी कंडीशन ये है कि कर्म भले ही बचे रहे आपके आपके जो क्लेश हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश हैं ये नष्ट होने चाहिए यदि आपके पांच क्लेश नष्ट हो गए तो मोक्ष मिल जाएगा मोक्ष का परमिट एक्सेप्ट स्वीकार कर्म भले बचे रहे वो तो बचे ही रहेंगे हमेशा ही बचे रहेंगे वो कभी खत्म नहीं होते कर्म हमेशा अकाउंट में बचे ही रहते हैं वो जीरो कभी भी नहीं होते अगर सारे जीरो हो गए तो मुक्ति से लौटेंगे कैसे कर्म तो है नहीं फिर मुफत में तो ईश्वर शरीर देगा नहीं इसलिए कुछ भगवान बचा के रखता है हमारे कर्म हमेशा ही बचा के रखता है आज भी और आगे भी कब भी मोक्ष में भी तो पांच क्लेश यदि नष्ट हो गए तो मोक्ष हो जाएगा कर्म बचे रहेंगे उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर मोक्ष से वापस लौट कर आएंगे और फिर दोबारा हमारी नई यात्रा शुरू हो जाएगी मोक्ष के लिए अब फिर आगे अच्छे अच्छे काम करेंगे सौ प्रतिशत फिर मोक्ष हो जाएगा और नहीं करेंगे तो जैसे करेंगे वैसा कर्म फल जन्म जन्म चलता रहेगा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा ठीक हो गया तो ये हुए तीन प्रकार के दुख अब दुख की परिभाषा करते हैं ये तो विभाग था परिभाषा बोलिए ये न अभिहता प्राणी न प्राणी न तद उपघाताय तद उपघाताय प्रयतनते प्रयतनते तद दुखम तद दुखम कई लोग क्या कहते हैं ये दुख सुख की कोई कोई सत्ता नहीं है ये तो अपनी कल्पना है मन की कल्पना है कोई किसी चीज में दुख मानता है तो उसको दुख लगता है कोई उस चीज में सुख मानता है तो सुख लगता है आपको सिगरेट पीने में दुख लगता है हमको सुख लगता है <clears throat> वो तो कहते हैं तो मन की बात आपको शराब पीने में आप बुरा समझते हैं हम तो अच्छा मानते हैं तो आप मत पियो हम पिए कोई सुख दुख की अपनी कोई सत्ता तो है नहीं ये तो कल्पना की बात है ऐसा मानते हैं बहुत से लोग पर उनकी मान्यता ठीक नहीं गलत एक व्यक्ति से मैंने कहा जो ऐसी बात कर रहा था कि सुख दुख तो अपनी कल्पना के ऊपर आधारित है उसका कोई अपना अस्तित्व तो है नहीं मैंने कहा अच्छा कभी आपके सर में चोट लग जाए पत्थर लगे जोर से सर फूट जाए खून निकलने लगे तब आप सुख की कल्पना करना बोलो करेंगे अब क्यों नहीं करते आप तो कह रहे ना सुख दुख अपनी कल्पना की बात जब सर में चोट लगे सर फूटे तब ऐसा सोचो वाह बहुत मजा आ रहा बहुत बहुत सुख हो रहा है ऐसा सोचो ना फिर देखें कितना सुखी होते हैं आप इससे पता चलता है वो काल्पनिक नहीं है वो वास्तविक है चोट लगने पर पेट दुखने पर जो दर्द होता है दुख होता है कटफट जाने पर शरीर के जो दर्द होता है दुख होता है वो वास्तविक है वो असली है तो सुख दुख की अपनी सत्ता भी है और वो बात भी ठीक है कुछ कुछ हम अपनी कल्पना से भी उसको घटा बढ़ा सकते हैं तो दोनों तरह का है कुछ कल्पना से भी घटाया बढ़ाया जाता है सुख दुख और कुछ इसका अपना अस्तित्व भी है तो यहां परिभाषा में बताते हैं ये न अभिहता प्राणी न जिससे पीड़ित होकर प्राणी लोग तद उपघाताय प्रयतनते उसके विनाश का प्रयत्न करते हैं जिससे परेशान होकर के उसको नष्ट कर देना चाहते हैं उसका नाम दुख है तो सर में चोट लगी दर्द हुआ अब इससे परेशान हो गया व्यक्ति अब इसका नाश करना चाहता है और भागता है डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब चोट लग गई खून निकल रहा है फटाफट कुछ करो अब इसके विनाश के लिए वो प्रयास करता है तो इसका नाम है दुख जिससे व्यक्ति घबराता है जिसको भोगना नहीं चाहता न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है बस उसी का नाम दुख है और जिसको खूब चाहता है और मिलता नहीं उसका नाम सुख है <laughs> खूब चाहता है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए और मिलता नहीं उसका नाम ही तो सुख है सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है और वो मिलता नहीं थोड़ी देर के लिए मिलता है बस फिर भाग जाता है थोड़ा सा सुख मिलता है फिर खत्म हो जाता है इस प्रकार से खीर पूरी खाते हैं हलवा मिठाई खाते हैं पूरी कचौरी खाते हैं देखो बाजार में लोग कितना खुश होकर खाते हैं सुख मिलता है ना तभी तो लाइन लगती है रेस्टोरेंट में वेटिंग में बैठते हैं एक एक घंटा दो दो घंटा वेटिंग में कब नंबर आएगा खाने के लिए बताओ घर में तुम्हारे को खाना नहीं मिलता <laughs> खाने के लिए तुम लाइन में लगे हो वहां होटल में अपने घर में बना के खाओ बढ़िया बढ़िया फिर भी लोग खाते हैं उसमें सुख मिलता है उनको तो सुख की अपनी सत्ता है दुख की अपनी सत्ता भी है और कुछ कुछ हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने विचारों से वो कैसे बढ़ाते घटाते हैं सुनिए एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को गाली दी झूठा आरोप आरोप लगा दिया अपमान कर दिया एक बार और उस पड़ोसी ने एक बार जब गाली दी अपमान किया तो एक बार तो दुख हुआ उसको अब वो पड़ोसी उसको छह महीने तक रोज दोहराता है कि मेरा पड़ोसी बहुत नालायक बहुत दुष्ट आदमी ये मुझ पर झूठा आरोप लगाता है सब में बदनाम करता है बहुत खराब अब छह महीने तक रोज दोहराता है उसका दुख बढ़ता जाएगा जितना जितना इस तरह से दोहराएगा उसका दुख इतना इतना बढ़ता जाएगा अब उसने तो केवल एक ही बार अपमान किया था एक ही बार दुख दिया और ये रोज का रोज बढ़ाया जा रहा है ये हम अपनी कल्पना से बढ़ा रहे हैं इस तरह हम अपने दुख को बढ़ा भी सकते हैं और इससे उल्टी प्रक्रिया करेंगे तो इसको रोक भी सकते हैं एक बार पड़ोसी ने आरोप लगा दिया झूठा रोक हमने सुन लिया तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा भाई इसने ठीक नहीं कहा गलत बात कही तो हमने तीन शब्द बोले कोई बात नहीं लगा दिया लगा दिया हमारा कोई हाथ पांव थोड़ी टूट गया हमारा हाथ ठीक है पांव भी ठीक है सर भी ठीक है सब कुछ ठीक है थोड़ा सा आरोप लगा दिया हमने पड़ोसियों को बता दिया कि झूठ बोलता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया झूठा आरोप है हमने ऐसा कुछ नहीं किया बस थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दिया और अपना मस्त रहो उसको दोहराओ मत उसको रिपीट मत कीजिए तो आपका ये छह महीने तक का दुख नहीं बढ़ेगा उसको आप ब्रेक लगा सकते हैं और अगर इतने से भी ना रुकता हो कोई बात नहीं इतने से ना रुकता हो तो फिर एक और शब्द है दूसरे ईश्वर न्याय करेगा बस उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और बार बार दोहराना बंद कर दीजिए तो आपका दुख खत्म हो जाएगा जो ऐसे बुद्धिमत्ता से काम करेगा वो अपने दुख को घटा सकता है जो काल्पनिक दुख बढ़ाने वाला था उसको रोक सकता है और अगर वो ये बुद्धिमत्ता नहीं करेगा तो थोड़ा सा दुख को वो दस महीने तक साल भर दो साल पांच साल तक भी बढ़ाए रखे वो उसके हाथ में इसी तरह से सुख की बात है मान लो किसी व्यक्ति का बेटा स्कूल में फर्स्ट आ गया तो उसको बढ़िया गोल्ड मेडल मिल गया इनाम मिल गया और बेटा भी खुश हो गया उसका बाप भी खुश हो गया कि मेरा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया उसको बहुत खुशी हुई कितनी बार फंसता है एक बार तो एक बार खुशी होनी चाहिए अब वो रोज उसको याद करता है मेरा बेटा स्कूल में फंसता है और रोज जो भी मिलता है उसको सुनाता है देखो मेरा बेटा स्कूल में फंसता है वो पचास दिन तक रोज मिलता है लोगों को और रोज सुनाता तो उसका सुख बढ़ता जाएगा इस तरह से व्यक्ति सुख को बढ़ा भी सकता है तो सुख को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं दुख को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं वो पोर्शन तो है हमारे हाथ में लेकिन उससे पहले जो असली दुख सुख था अपनी अस्तित्व से अपनी सत्ता से वैसा भी है पूरा का पूरा काल्पनिक नहीं ये बात समझ ली ठीक है जी हाँ बोलिए प्रश्न है तो बताइए कल्पना से तो मेरे ख्याल से बड़ा घटा नहीं सकते हैं कुछ और भी प्रोसेस होती रहेगी अंदर प्रोसेस जो भी हो हाँ। पर हम इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया हाँ। इससे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अंदर मन में और रजोगुण उभरेगा वो प्रोसेस अलग हो वो तो होगी उसका हम निषेध नहीं कर रहे वो भी होती रहती पर उसकी पद्धति यही है कि हम ऐसा सोचेंगे तो दुख बढ़ जाएगा ऐसा सोचेंगे तो नहीं बढ़ेगा ऐसा सोचेंगे तो सुख बढ़ जाएगा और ऐसा नहीं सोचेंगे तो सुख नहीं बढ़ेगा इस तरह से बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में हमारे चिंतन पर आधारित है किस तरह से हम सोचते हैं एक घटना को एक व्यक्ति अलग ढंग से देखता है उसी घटना को दूसरा व्यक्ति अलग ढंग से देखता है तो दोनों सुखी दुखी अलग अलग स्तर पर होंगे दोनों व्यक्तियों का ज्ञान का स्तर अलग अलग है दोनों व्यक्ति रेल में जा रहे थे और टीटी ने दोनों का अपमान कर दिया तुम बिना टिकट चलते तो दोनों ने टिकट निकाल के दिखाई देखो साहब हमारे पास टिकट है आप हमको बिना टिकट क्यों बोलते हो ठीक है तो टीटी ने गलत आरोप लगाया कि तुम बिना टिकट चलते हो दोनों को ऊपर लगाया तो बात आई गई हो गई वो रफा दफा हो गई टी, टीटी अपना चला गया लेकिन उन दो व्यक्तियों में से एक तो रात भर सो सो ही नहीं पाया आप टीटी ने मुझे बिना टिकट क्यों कहा वो रात भर सो ही नहीं पाया पूरी रात दुखी होता रहा और दूसरे ने कहा बोल दिया तो बोल दिया क्या फर्क पड़ गया मेरे पास टिकट तो था ही मेरे को बेटिकट तो था ही नहीं बोल दिया बोल दिया चला गया बात खत्म होगी वो अपना मजे से सोया अब देखिए एक ही घटना है दोनों व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से देख रहे हैं तो दोनों के ऊपर उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया होगी एक रात भर दुखी रहेगा और दूसरा मजे से सोएगा इस तरह से हम बड़ा घटा सकते हैं हाँ जी कितना ज्ञान है उसके ऊपर उस पर आधारित हाँ जिसका ज्ञान अच्छा है हाँ। जिसके पास उपाय है जिसके पास तत्व ज्ञान है जिसके पास वैराग्य है वो तो यूं हवा में उड़ा देगा इतनी देर में उसको खत्म कर देगा वो दुखी नहीं होगा और जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं वो बेचारा दुखी होता रहेगा बार बार उसको रिपीट करता रहेगा और सोचता रहेगा इसने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया उसके मन में प्रश्न उठते ही रहेंगे उसके पास उन प्रश्नों का उत्तर नहीं है इसलिए वो दुखी रहेगा जिसके पास प्रश्नों का उत्तर है हर एक प्रश्न का उत्तर है वो फटाफट निपटा देगा जैसे ही प्रश्न उठेगा उसका उत्तर तैयार है अगला प्रश्न उठेगा उसका भी उत्तर तैयार है तीसरा उठेगा उसका भी तैयार है थोड़ी देर में प्रश्न खत्म मजे से सोएगा खूब बढ़िया नींद आएगी मस्त रहेगा सारा जीवन आराम से आनंद से जिएगा ये तत्व ज्ञान यही काम करता है कि जो जो मन में प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर तैयार करता रहता है और सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास तैयार है कोई समस्या नहीं वो सारे दुखों को पार कर लेता है मतलब वो बहुत कम दुखी हो पाएगा जैसे गर्मी लगेगी ठंडी लगेगी थोड़े बहुत ये जो भौतिक सारे आते हैं दुख बस इतने तो उसको भोगने पड़ेंगे मानसिक दुखों का तो पूरा पूरा इलाज कर लेगा ये तत्व ज्ञान का वैराग्य का लाभ इस तरह से और जो एक और एक चीज है एक दृष्टान दिया जाता है कि जैसे जीवात्मा है टीवी देख रहे हैं मन में जो भी प्रतिसंवेदी ज्ञान है उसको देख रहे हैं तो जीवात्मा में सुख दुख को तो प्रवेश नहीं कर सकते हम्म ठीक है तो ये जो सुख और दुख की सत्ता है हम्म। वो बढ़ाता है कल्पना से या घटाता है कल्पना से हम्म, हम्म, हम्म। तो ये कैसे वहां पे समझनी चाहिए ठीक बात है बहुत अच्छा प्रश्न है मैंने प्रश्न भी ठीक से समझ गया मैं मैं समझ गया प्रश्न आपका समझ गया आप ये कहना चाहते हैं कि जीवात्मा एक ऐसी वस्तु है जिसमें कोई चीज घुसती तो है नहीं घुलती मिलती तो है नहीं फिर वो सुख बढ़ाया कैसे उसने उसके अंदर तो गया ही नहीं सुख और दुख भी नहीं गया फिर वो बढ़ा कैसे और घटा कैसे यही प्रश्न है ना इसका उत्तर यह है कि जीवात्मा जो सुख दुख की अनुभूति करता है भोग करता है वो है क्या पहले इसका स्वरूप समझ लें देखिए ये पंखा है आप इस पंखे को देखिए आपको इस पंखे के रूप की जानकारी हुई हम्म। ये सफेद पंखुड़ी वाला है और बीच में इतना इतना गोल है इसमें तीन पंखुड़ियां हैं और इतनी गति से चल रहा है आपको इसकी जानकारी हो गई रूप की आंख के माध्यम से रूप गुण की जानकारी हो गई क्या पंखा आपके अंदर घुस गया नहीं घुसा पंखा तो वही है छत पर लटका है और घूम रहा है हमें क्या हुआ सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ जानकारी हुई इतना ही तो हुआ ना और तो कुछ नहीं हुआ तो जैसे हमें पंखे के रूप गुण की जानकारी हुई पंखा द्रव्य है उसकी भी जानकारी हुई बस जानकारी मात्र होती है और आत्मा में कुछ नहीं घुसता इसी तरह से जैसे रूप की जानकारी आंख के माध्यम से चित्त में आई और चित्त में उस छपे हुए रूप को आत्मा ने देखा तो आत्मा को चित्त में छपे हुए इस रूप के चित्र का ज्ञान हो गया बस यही उसका भोग है यही उसकी प्राप्ति है केवल अनुभूति होती है ज्ञान मात्र होता है तो यहां तो रूप का ज्ञान हुआ अब वो और आगे सोचता है यदि ये रूप उसको अच्छा लगा अनुकूल है उसके विचार संस्कार के अनुकूल है तो वो इसमें सुख का अनुभव करेगा अगर पंखे का डिजाइन और कलर उसको पसंद है तो वो कहेगा वाह बहुत अच्छा पंखा है बहुत बढ़िया मजा आ गया और मान लो पंखे का कलर और डिजाइन उसके अपने संस्कारों के अनुकूल नहीं है तो उसको पसंद नहीं आएगा वो तो कहेगा ये कोई पंखा है बेकार बाबा आदम के जमाने का पंखा है अब इतने अच्छे अच्छे नए नए पंखा थे क्या सड़ा हुआ पंखा लगा रखा है तुमने उसको वो रूप पसंद नहीं आया कलर डिजाइन पसंद नहीं आया तो वो उससे दुखी होता रहेगा तो दुखी जब होता है तो केवल एक फीलिंग होती है एक अनुभूति मात्र होती है कोई दुख नाम का गुण आत्मा में घुसता नहीं है सुख नाम का गुण आत्मा में घुसता नहीं है बस दूर से ही अनुभूति होती है अच्छा ये ऐसा है बढ़िया है ऐसा नहीं अच्छा नहीं मजा नहीं आया केवल इसको अनुभूति मात्र ही है जीवात्मा को बाकी जो सुख दुख गुण है वो तो जड़ वस्तु में ही है तो जड़ वस्तु में उसका रूप रंग कलर डिजाइन जो भी है उसको देख करके जैसे एक अनुभूति इसने की ये बहुत अच्छा है पसंद आया अब इसी अनुभूति को बार बार रिपीट करता है तो जितनी बार रिपीट करेगा उतना उतना वो सुख का बार बार अनुभव करता जाएगा इसी का नाम है सुख का बढ़ना बार बार उस अनुभूति को दोहराते रहना यही सुख का बढ़ना है और जब दुख की अनुभूति हुई अच्छा नहीं लगा किसी वस्तु का रूप अच्छा नहीं लगा किसी वस्तु का स्वाद अच्छा नहीं लगा कड़वा कड़वा करेले का रस पीना पड़ा उसको है? कच्चे करेले का रस कड़वा कड़वा है? तो वो उसको स्वाद अच्छा नहीं लगा तो क्या कोई करेले का रस आत्मा में थोड़ी घुस गया आत्मा में तो वो भी नहीं गया पर उसकी अनुभूति उस बेचारे को भोगनी पड़ी ये पसंद नहीं आया कड़वा है बहुत मजा नहीं आया तो ये अब उसको जो दुख की अनुभूति हुई इस कड़वे करेले के रस की अनुभूति को वो बार बार दोहराता रहेगा वो बहुत खराब आदमी है इतना खराब कड़वा करेले का रस पिलाया मैं तो कभी उसके घर पाँव नहीं रखू दोबारा कोई अच्छी मिठाई खिलाता तो बात में चीज थी कड़वा करेले का रस पिला बेकार अब नहीं जाऊंगा उसके ऐसे बार बार उसको दोहराता रहता है फीलिंग को तो जितनी बार दोहराएगा उसका दुख नया नया वो नया नया रिपीट होता रहेगा इसी का नाम है दुख का बढ़ना बाकी तो सुख दुख क्षणिक है एक बार सुख भोग लिया खत्म हो गया अब दूसरी बार फिर भोगेंगे वो भी खत्म हो जाएगा तीसरी बार फिर भोगेंगे फिर भी खत्म हो जाएगा तो जो हम कह रहे हैं ना काल्पनिक सुख दुख है उसका अर्थ यह है कि पहली बार जो हुआ था वो तो भौतिक कारण से हुआ था वो कड़वा करेले का रस पीना पड़ा तो वहां भौतिक कारण था और उससे अनुभूति हुई अब दूसरी तीसरी पांचवी बार जो हम दोहरा रहे हैं अब पिछली अनुभूति को ही दोहरा रहे हैं बस अब भौतिक कारण ना भी हो तो भी चल सकता है एक अनुभूति हमारे पास आ चुकी है उसी को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं यदि दुख की अनुभूति आई और उसको रिपीट कर रहे हैं तो बार बार नया नया दुख भोगना पड़ेगा यदि सुख की अनुभूति आई और उसको रिपीट करते हैं तो बार बार सुख अनुभव होता रहेगा नया नया सुख अनुभव होता रहेगा वो वास्तव में नया नया ही है हम मोटी भाषा में कहते हैं आप अपना सुख बढ़ा रहे हैं अथवा दुख बढ़ा रहे हैं ये बढ़ाना मोटी भाषा है वास्तव में तो वो हर क्षण में नया नया ही होता है क्योंकि ये दोनों क्षणिक है सुख भी और दुख भी ठीक हम्म। बोलिए है द्रव्य में गुण रहते हैं हाँ द्रव्य में गुण रहता है तो जो ज्ञान है जो उनको क्या है हम्म। उसका द्रव्य आत्मा ही है आत्मा है ज्ञान का द्रव्य आत्मा है सुख दुख का द्रव्य जड़ वस्तु है प्रकृति है प्रकृति है या मन यानी कहा उसको मन भी है प्रकृति वो मन भी प्रकृति है जड़ वस्तु है ना परंतु जो यहाँ से आ रहे हैं जो हलवा पूरी जो भी हाँ रसन तक आ गई ठीक है फिर रसन से मन तक क्या जाता है वो द्रव्य जाता है हाँ कुछ द्रव्य भी जाएगा कुछ द्रव्य भी जाएगा मन तक मन तक रसना इंद्रिय से मन पर जो उसकी सूचना जाएगी वो कैसे जाएगी सूचना कोई ना कोई पार्टिकल भी तो ट्रांसफर होना चाहिए ना सूचना जो है वो तो एक गुण है और गुण हमेशा द्रव्य के साथ ही रहता है तो जब रसना इंद्रिय से मन तक सूचना जाएगी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल भी जाना चाहिए वो मन पर वो सूचना पहुंचा देगा अब मन तक आ गया हम्म। वहां पर फिर आत्मा उसको देखेगा मन और आत्मा का संबंध जुड़ा ही हुआ है तो आत्मा देखेगा ये बाहर से क्या मैसेज आया ये रूप का मैसेज है ये रस का मैसेज है ये गंध का मैसेज है ये स्वाद का मैसेज है ये अच्छा है ये खराब है फिर वो बुद्धि की सहायता लेगा और बुद्धि से डिसाइड करेगा हाँ ये अच्छा है आने दो आने दो और आने दो चलता रहने दो अच्छा है बढ़िया लग रहा है तो वहां तक जो आ रहा था हम्म, हम्म। रस्ता आ गया सब हम्म। रस तत्व आ गया अब वहां से यहाँ कन्वर्जन हो रहा है क्या ना वो छूट रहा है मन मन पर टिका हुआ है हम्म। और आत्मा बस केवल जानकारी कर रहा है उसकी जैसे मैंने मोटा उदाहरण दिया कि हम पंखे की जानकारी कर रहे हैं दूर से पंखा हमारी आंख से दस फीट दूर है और हमको दूर से जानकारी हो रही है ये पंखा चल रहा है पंखा हमारे अंदर घुस नहीं रहा है केवल उसकी इन्फॉर्मेशन घुस रही है हमारे पास आंख में तो मन तक तो पंखा ही जा रहा है हाँ पंखा दूसरे रूप में हाँ। रूप गुण के माध्यम से मन तक तो पंखा आ गया हम्म, हम्म। ठीक है दूसरे फॉर्म में आ गया अब वहां से जो जानकारी आत्मा के पास पहुंचेगी अब वो परमाणु रूप में नहीं होगी अब मटेरियल के रूप में नहीं होगी अब केवल जानकारी इन्फॉर्मेशन बस उसको अनुभूति कहें या ज्ञान कहें इस तरह से शब्दों से कुछ कहना चाहिए अब परमाणु आत्मा में ट्रांसफर नहीं होगा गुलाब जामुन से परमाणु उठेगा रसना इंद्रिय में आ जाएगा रसना इंद्रिय से परमाणु उठेगा मन में आ जाएगा यहां तक तो परमाणु का ट्रांसफर हो जाएगा पर मन से उठकर आत्मा में ट्रांसफर हो जाए परमाणु ये नहीं होगा यहां ब्रेक लग जाएगी अगर आत्मा में परमाणु घुसने लग गए तो आत्मा मोटा हो जाएगा इसका भी भार बढ़ने लग जाएगा और वो बढ़ता नहीं और शास्त्र में लिखा चिति शक्ति रहा परिणाम अप्रति संक्रमा वो घुलती मिलती नहीं है वो हमेशा अलग ही रहती है तो ये सारी प्रक्रिया की विचित्रता यही है कि जीवात्मा को भौतिक परमाणु एक भी प्राप्त नहीं होता और जानकारी सब मिलती है इसी जानकारी के कारण ही वो सुखी दुखी होता रहता है एक कड़ी है हम्म। जो जीवात्मा की चौबीस शक्ति है उसमें हम्म। से एक रूप रसगंध स्पर्श ये भी है उसको जानना पहचान जो भी हाँ ठीक है तो ये कड़ी अभी जुड़ने रही कि वहां तक तो आ गया मन तक हम्म। वहां से वो यंत्र क्या करता है कि जो आत्मा में जो शक्ति है वहां तक ये ज्ञान प्रबुद्ध होता है या उद्बुद्ध होता है या आ जाता है संभव जैसे उदाहरण मैंने दिया ना हम्म। कि हम आंख से दूर से ही पंखे का ज्ञान कर लेते हैं आंख को पंखे तक चिपकाना नहीं पड़ता दूर से जानकारी होगी हम्म। ठीक है तो न्याय दर्शन अनुसार वहां तक तो आ गई हाँ आ गई हाँ ये मोटी बात कर रहा हूं मैं जैसे पंखा दूर है और आंख दूर है दूर से ही आंख पकड़ लेती है हम्म। किरणें आती हैं हमारे पास यहां से किरणें जाएंगी यहां से किरणें पंखे तक जाएंगी पंखे से वापस आएंगी और उसका फोटो खींच लाएंगी तो हमारे पास जानकारी आ गई अब इसमें मोटिव आप ये समझनी है कि फिजिकली पंखा हमसे दस फीट दूर है और फिर भी हमको इतनी दूर से जानकारी हो रही अब इसी बात को अंदर उठा के ले चलते हैं कि जो गुलाब जामुन का परमाणु रसना इंद्रिय में आया रसना इंद्रिय का मन में आया अब मन में खड़ा रहेगा और एक फीट दूर से जीवात्मा उसको महसूस कर लेगा बस इतना समझना है तो आत्मा में परमाणु ट्रांसफर नहीं होगा वो भी ठीक है जी पर वो जो लिंक है और एक वो नसनाड़ियों के माध्यम से लिंक बना हुआ है नसनाड़ियों के माध्यम से संदेश चला जाएगा आत्मा के पास ये गुलाब जामुन का टेस्ट आ रहा है ये रसगुल्ले का टेस्ट आ रहा है ये पराठे का टेस्ट आ रहा है वो मेरे ख्याल से मल तक आएगा नसनाड़ियों से जो हाँ ठीक है मन से जो तो आत्मा में आ रहा है वहाँ भी कोई सूक्ष्म नाड़ियाँ होंगी ये शरीर वाली तो नहीं होंगी कोई सूक्ष्म कनेक्शन होगा वो फिर या तो मोक्ष में चलते हैं वहीं देखें अभी तो क्या अपराध या तो समाधि लगाओ तब देखेंगे या मोक्ष में देखेंगे वो क्या कनेक्शन है कैसे जुड़ा हुआ है वो और एक दूसरा प्रश्न छोड़ देते जी मतलब प्रत्यक्ष जी वो परमाणु वहां तक आ गया हम्म। अब उस परमाणु वहाँ पे है हम्म। वो कितने देर तक वहाँ पे रहेगा मन में हम्म। इसका निर्णय कौन करेगा या चलम से गुणवृत्तम हम्म। व्यास भाष्य में लिखा है गुणों का व्यवहार चंचल वो टिकता नहीं बहुत देर चलता ही रहता है चलता ही रहता है खटाखट खटाखट थोड़ी देर में इसलिए तो मीठा खाते हैं थोड़ा सा देर अच्छा लगता है वो गले से नीचे करते खत्म वो तो व्यापार चलता रहता है चंचल हाँ चंचल रहता है वो थोड़ी देर टिकता है बस फिर खत्म फिर तो हम उसको बार बार मन से ही रिपीट करते रहते हैं भौतिक रूप से तो थोड़ी सी देर बस इधर ठीक और आगे चले हाँ चलिए स्वामी जी हाँ जी जब कोई जीव जो है ना ऐसा पाप कर्म करता है जी तो उसके संस्कार आत्मा पर नहीं होते हाँ होते हैं मन पर भी होते हैं आत्मा पर भी होते हैं दोनों पे होते हैं और आत्मा और मन जब अगले जन्म में चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ के तो ये सारे संस्कार भी उसके साथ चलेंगे और अगले जन्म में फिर उसको आगे सहायता देंगे हाँ जी हाँ द्रव्य द्रव्य माने वस्तु वस्तु पदार्थ चीज ये ये वस्तु है इसको द्रव्य बोलेंगे और इसके अंदर जो विशेषताएं हैं अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज हम्म। मटेरियल और प्रॉपर्टी मटेरियल जो है वो द्रव्य है और प्रॉपर्टी इसकी विशेषता है ये काले रंग का है प्लास्टिक का बना है फिर चौदह इंच लंबा है इधर दस इंच लंबा है ये जो इसकी विशेषता है इस कलर का है इस डिजाइन का है इस कंपनी का है छूने में सॉफ्ट है या हार्ड है ये सारे इसके गुण इसको गुण कहेंगे विशेषताओं को गुण और जो मटेरियल है उसको द्रव्य ठीक है हम्म दुख और सुख की अनुभूति कौन करते हैं मन करते हैं न आत्मा करता है मन तो जड़ है अनुभूति केवल चेतन वस्तु करती है जड़ वस्तु कोई अनुभूति नहीं करती वो प्रश्न बदल दिया ना करता है प्रश्न बदल दिया आपने पहले आपने सुख दुख का पूछा था अब मिठास खटास की पूछ रहे दोनों साथ में ना ना ना साथ में नहीं प्रश्न आपका बदल गया मिठास अलग चीज है सुख अलग चीज है मिठास मिठास का संदेश जाता है रसना इंद्रिय से मन के पास और फिर वहां से जाता है आत्मा के पास सुखी तो आत्मा ही होता है मन इंद्रिया तो संदेश भेजने वाले नौकर हैं उसके संदेश वाहक हैं सुखी दुखी केवल चेतन वस्तु ही होती है ये सिद्धांत याद कर लीजिए जड़ वस्तु कभी ना सुखी होती है ना कभी दुखी होती है एक मनुष्य को फूल आर पहनाओ वो खुश हो जाता है एक मूर्ति को फूल आर पहनाओ वो खुश होती है क्यों नहीं होती वो जड़ है ना तो जड़ वस्तु को कोई खुशी नहीं होती उसको एक नहीं पचास आर पहनाओ तो भी खुश नहीं होती और मनुष्य को एक भी पहनाओ तो खुश होता है तो चेतन जो आत्मा है वो अनुभूति करता है सुख की भी दुख की भी अब मन जड़ है इंद्रियां जड़ है शरीर जड़ है बुद्धि जड़ है ये सारी चीजें जड़ है ये कोई सुखी दुखी नहीं होते ये तो खाली संदेश भेजते हैं आगे से आगे बस इनका इतना ही काम ठीक चलिए इसको थोड़ा पूरा कर लें चलिए दौर मनस्यम दौर मनस्यम इच्छा विघाता इच्छा विघाता चेतस चेतस क्षोभ क्षोभ ये अगला उपविघ्न है दौर मनस्यम दुर्मन हो जाना मन की स्थिति खराब हो जाना कैसे होती है इच्छा विघातार्थ इच्छा के विघात होने से इच्छा पूरी न होने से चेतस क्षोभ चित्त में क्षोभ होता है खिन्नता होती है मजा नहीं आता ठीक है मान लीजिए आपने कहा राजेश जी से आप ऑफिस जा रहे हैं शाम को सब्जी लेते आना उन्होंने कहा ठीक है ले आऊंगा और शाम को भूल गए ध्यान नहीं रहा कहीं और काम में उलझ गए सब्जी लाना भूल गए अब जब घर आए तो आपने पूछा भाई सब्जी लाए क्या वो हो मैं तो सब्जी तो भूल गया जब भूल गया तो फिर आपको क्षोभ होगा क्या इतना सा एक काम बताया वो भी नहीं करते भूल जाते हैं मतलब कड़ा तो, तो होता है ना तो उदाहरण तो वही होता है जो रोज का घटने वाला उदाहरण तो वही होता है तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता तो क्षोभ होता है जब मन में क्षोभ होता है खिन्नता होती है तो फिर मन नहीं टिकेगा फिर ईश्वर में नहीं टिकेगा इसलिए ये भी बाधक तो क्षोभ नहीं होना चाहिए आपने काम बता दिया उन्होंने कर दिया तो ठीक है नहीं किया तो भी ठीक है अपने आप को ठीक रखो बस हमारे गुरु जी क्या कहते हैं ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है तो कहते हैं ये दुनिया तो सुधरने वाली नहीं है तुम अपना ध्यान रखना तुम मत बिगड़ जाना <laughs> तुम अपना ध्यान रखना तुम दुखी मत हो जाना अपने अंदर ये संकल्प करके बैठो ये दुनिया हमारी इच्छानुसार काम नहीं करेगी नहीं करेगी मान के चलो कर दे तो अच्छी बात है और ना करे तो पहले से तैयार रहो ये नहीं करेगी पर उस घटना में मुझे दुखी नहीं होना ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है मुझे दुखी नहीं होना तुम कुछ भी कर लो उल्टे सीधे उल्टे नाचो सीधे नाचो नंगे नाचो कैसे भी करो मैं दुखी नहीं होने वाला तुम कुछ भी कर लो इतनी तैयारी रख के चले व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जिएगा वो ये जीने का ढंग तो ये दौर मनस्यम ये भी एक बाधक है इससे बचना चाहिए अगला यद अंगानी यद कंपयति कंपयति में जयत्व ये अगला वादक है अंग में जयत्व जो अंगानों अंगों को शरीर के अंगों को जयती अर्थात कंपयती कंपित करता है शरीर के अंग हिलने लगते हैं कभी कभी वात रोग के कारण भी वृद्धावस्था में हाथ में कंपन हो जाता है ऐसे और किसी की गर्दन हिलने लगती है बुढ़ापे में वात रोग के कारण तो इस तरह से जब कंपन होती है शरीर में तो जब शरीर स्थिर नहीं हुआ तो मन क्या स्थिर होगा पहले शरीर तो स्थिर होना चाहिए फिर मन के स्थिर करने की बात आएगी तो जो अंग में जैत्व है शरीर के अंगों को कंपाता रहता है हिलाता रहता है तो उससे भी मन एकाग्र नहीं होगा मन नहीं टिकेगा इससे भी बचना चाहिए यह भी एक बाधक है आगे पढ़ते हैं प्राणों यद बाह्यम यद बाह्यम वायुम वायुम आचामति आचामति सश्वास सश्वास यद कौष्ठ्यम यद कौष्ठ्यम वायुम वायु निस्सारयति निस्सारयति सप्रश्वास सप्रश्वास तो प्राण एक शक्ति का नाम है यहाँ इस पंक्ति में प्राण एक शक्ति है जीवात्मा की वो बाह्यम वायुम आचामती बाहर से वायु को अंदर खींचती है उसका नाम है श्वास तो बाहर से वायु अंदर आई वो श्वास हो गया यद कौष्ठम वायु निस्तारती जो पेट की वायु को बाहर निकालते हैं अंदर की उसका नाम प्रश्वास हो गया तो वायु का अंदर आना और बाहर जाना श्वास और प्रश्वास कहते हैं जब ये नियंत्रण में नहीं रहते श्वास प्रश्वास और सांस तेज तेज चलती है किसी किसी को दमे का रोग हो जाता है और वो ऐसे ऊंचे ऊंचे सांस लेता है जोर जोर से लेता है उसका श्वास पे कंट्रोल नहीं रहता तो उसका भी मन नहीं टिकेगा उसका श्वास पे ही कंट्रोल नहीं है तो श्वास के साथ मन का संबंध है श्वास पर नियंत्रण है तो मन पे भी आ जाएगा श्वास नियंत्रण में नहीं है प्रश्वास तो मन भी नियंत्रण में नहीं आएगा तो वो भी बाधक बनेगा इस तरह से श्वास को भी नियंत्रण में रखना चाहिए आराम से बैठो सांस धीरे धीरे लो अच्छी तरह मन को टिकाओ ईश्वर में तो उपासना ठीक हो पाएगी तो इस प्रकार से बताया दुख अंग में जयत्व और श्वास प्रश्वास ये चार विक्षेपों के साथी हैं अंतिम वाक्य है एते एते विक्षेप विक्षेप सह भुव सह भुव विक्षिप्त चित्त विक्षिप्त चित्त एते एते भवंती ये विक्षेपों के साथी हैं और विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति को ये भी हो जाते हैं व्याधि स्थान आदि हो तो साथ साथ ये भी हो जाएंगे दुख भी आ जाएगा दौर तो से भी हो जाएगा इस तरह से ये सारे बाधक बनते रहते हैं और अंत में कहा समाहित चित्त समाहित चित्त खेते न भवंती न भवंती तो जिसका मन एकाग्र है शांत चित्त बैठा है और पीछे वाले व्याधि आदि दोष नहीं है बाधक नहीं है तो उसको ये भी नहीं होंगे ये तो उनके साथ साथ हैं पड़ोसी जिसको कहते हैं ना एडिशनल एक एडिशनल मजिस्ट्रेट होता है एक ओरिजिनल मजिस्ट्रेट होता है तो ये तो एडिशनल है अगर पहले वाले हो गए तो ये भी साथ हो जाएंगे पहले वाले बाधक नहीं है तो ये भी नहीं होंगे तो अपने मन का अच्छी तरह से नियंत्रण रखें ईश्वर में ध्यान लगाएं ईश्वर प्रणिधान करें तो ये सारे के सारे बाधक और उपविघ्न सब के सब हट जाएंगे ये ईश्वर प्रणिधान का फल हुआ ठीक है जी तो यहां विराम देते हैं एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से Oh.